जनितम स्वयं जहा जब सभी बोला यहाँ मित्र इसमें क्या है और जब से भगवान ने अपने आप खोल ली उस बात पर जब जैसे इसमें चढ़ गए अरे ये तो हमको बहुत प्रिय है मना अप्रिय मानितम ये यहाँ कहाँ मिलते हैं ये तो हमको बहुत प्रिय है एक मृत्यु भर के भगवान ने डाल ली चार मृत्यु तो सही छोटी छोटी एक मृत्यु भर के तो डाल दिया मेरे बंगला विश्वास मान कर देगी कुछ भगवान कृष्ण होता मुस्लिम जब्धा एक मुस्लिम का प्रयास चला गए जितियान जब दिन आ गए दूसरी मृत्यु और भर गई लक्ष्मी जी उन्होंने हाथ पकड़ लिया कितना परिवार है बहुत देखो विश्वास मन एक एक उसमें से चौथाई चौथाई चिंता भी दोगे चौबीस बात मिलेगी यदि स्वात्मन कोशिश कायल में था भी तथा सर्व संपद समर्पित हुए आप जिसको जो कुछ देना चाहते हैं सारे विश्व की संपत्ति कितने ही से दे सकते हैं परम तौर पर प्रसाद भी औरों को भी मिलनी चाहिए बस वो लेकर के वो यो करके बिखे जिसके हाथ में चावल पर जाए उसे मांग के लिए करेंगे कि चिंता हमको भी दे देगी तो ब्राह्मण को जो लाया हुआ उसका उनकी चिंता भी सहमत पाता इतना परवाया हुआ बड़ा आदर किया भगवान ने उस ब्राह्मण को चावला का ब्राह्मण बोलता है वहां रहे आत्मान स्वर्गतम बोलती ब्राह्मण रात्रि को निराश करे खाए पिए आत्मी में स्वयं किया उन्होंने कहा स्वर्ग क्या चीज होता होगा उससे ज्यादा और क्या स्वर्ग होगा बड़े आराम से आनंद से हुए क्या सत्ता ही विदा मांगने लगे भगवान आज्ञा दीजिए भगवान मैं हम जाते भगवान मुझे अच्छा मिल जैसे आपकी इच्छा उन्होंने ये भी नहीं कहा भाई जब खाती जाना पैर के बात क्या हो आगतम स्वागतम कर दिया दक्षिण तम निवार आया तो भगवान ने बहुत स्वागत किया इनके जाए नमस्कार तथा सूर्य उदय सती श्री कृष्ण ने अभिनंदता आशा आलोम कर अपने घर को लौट के भगवान ने तो दिया एक अनुसार किसी जैसा था तैसा लौटते चरण को अलग्यापी स्वयं में आचितना किसी ने कुछ दिया भी नहीं उसने कुछ मिला नहीं भगवान का दर्शन करके ये तो आनंद में मर रहता है स्वग्रहण जगह बस मन मन में ये सोचता है श्री अच्छा। कृष्ण कैसे भक्त हो राम को आज मैंने देख लिया उनकी भक्ति हाँ, देखो इस जगत जी को उन्होंने अपने हृदय से लगाया मैं काफी समाधान करूंगी कहा भगवान श्री कृष्ण मेरा बलदाव जी की समान स्वागत किया अपने पलंग पर बैठाया रुक्मी ने मेरा पंखा किया श्री कृष्ण ने मेरे चरणों को दबाया देवता के समान मेरी पूजा की और स्वर्गा जो सर्वासाम सिद्धिनाम उत्तरण धनार्थम मूल फिर ये कल्पना हुई तो मुझे किया कुछ नहीं तो हम धन संपत्ति उनके कमी प्रतिष्ठी में उन्होंने कहा उस दरिद्री को हम कुछ कह देंगे तो तुम मुझे वो भूल जाए तो इसलिए मेरी ऊपर कर्जा करके मुझे कुछ नहीं दिया मैं जन्म भूल न करो ऐसा सोच करके आ गए जब अपने घर के पास आए जहां उनका घर था से मरैया तो घर का कुछ पता ही नहीं है तो कैसा घर देख रहे हैं सूर्य आदमी जो सबसे विमान ही देख रहे तो बहुत विशाल बुद्ध महल बना दिया है और उसके चारों ओर विमान खड़े हैं तो मोटर फोटर नहीं जो टांगे लेकर छोड़ विमान का है और सूर्य के समान चमक रहे थे चंद्रमा के समान चमक रहे थे विमान मैंने कहा इतनी देर में किसने यहाँ भाई मकान बना लिया मेरी मरैया कहाँ था एकादशम ग्रहण निगम अरे ये क्या हुआ अच्छे भगवान का दर्शन करने गए हमारी नौकरी से इसका पता नहीं होगा तो किसी और ने मकान बना दी एक इसका स्थान है ऐसा विचार कर रहे थे उनकी स्त्री ने उनको देख लिया कि हमारे पसीदे वाले तब तो वो और तब अपनी स्त्री भी वो पूनम के हाथ निष्ठा तो वो तो चमचम सारी पहने हुए बढ़िया और उनका स्वागत करने के लिए आई मनसा परिश्वसिले तथा दासीना मध्य देव पत्नी हुए अनेक दासियां उसके साथ में थी और देव पत्नी के समान तो, तो उसकी सेवा हो रही थी उन्होंने देखा अपनी पत्नी को और वो उनकी पत्नी उनको पकड़ करते थे अपने घर में ले गई निज मंदिरम विदेश है मंदिरों के खंभे थे वहां और तो रामा जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भक्त के दी हुई वस्तु को भी बहुत मानते हैं और अपना बहुत दे करके भी उसको बिना करे छिप छिप करके देते हैं ऐसा कौन जाता है जो छिप छिप करके देते निराम से करूँ संपदा समेत विलोक तथा एस आगता करता है अरे मित्र के लिए जैसे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा है अतएव मरा तो भगवान तो काम उपानुपान मृत्यु मृत्यु प्रीता संशयन मेरे थोड़े से कारण भगवान ने कितनी प्रसन्नता से खाए और उनकी प्रसन्न कितनी प्रसन्न हुई हो भगवान भूनाम मधुभवम निपातम सत्यम भक्ताय संपदो राज्यम विभूति सुनिधा एकदम भुजा निश्चित है विषयाणाम समीचारण नाक दम प्रकाशन तो विषयों में से मन हटा करके भगवान का चिंतन करता हुआ तो इतनी बड़ी संपत्ति में भी विरक्त होकर के सुदामा जी रहेंगे बोलिए श्री कृष्ण भगवान युवान हे कृष्ण असौ मनम मनो एवं गम तुम इसलिए पास ही लेना वस्तु जी करते पंच निराम मन शिकल न आप हमारे पुत्र नहीं आप दोनों प्रधान और दोष हैं पृथ्वी तो का भाग दूर करने के लिए आप गलत हुए हैं अतो हो आत्मबंधो स्मृत भरणाष्टम के पदार्थम शरण प्राप्त बसदेव जी कहते हैं हमको महाराज आपकी शरण में आप हमारा कल्याण की आत्मबुद्धि से तो परमेश्वरी पुत्र बुद्धि से ये शरीर में आत्मबुद्धि न हो आप में पुत्र बुद्धि न हो आप तो साक्षात परमात्मा हम परमेश्वर नेत्र चेत करता सुनने ये नहीं है सुखदेव जी बोले इस प्रकार पिता के वचनों को सुनकर के भगवान बोले हो था तो प्राण उपदेश प्रया तब तक ग्रामे नहीं पिता छोटे तो उपदेश करते हुए आपने ये तब का आपने उपदेश किया है जैसे कोई गुरु कहता है चले को अरे तू साक्षात ब्रह्म हो तू साक्षात परमात्मा हो कैसे मानो आपने हमको उपदेश किया एकता अहम असौ रामो नियम नियमेन्द्र सर्व सराचरम दुष्टम ब्रह्मत्व विमर्श छाया संसार पर ब्रह्म सभी तरह आत्मा एक गुण है गोणेश भूतेश गौरा प्रतीयत है सुखदेव जी ने एवं मुक्तो वसुदेव घनिष्ठ नाना बुद्धि सन तो तीन बुद्धि देवल का हम ये बलदाऊ जी आप ये सब जो कुछ दिखाई दे रहा है सब धर्म स्वरूप है अज्ञान से ही इसमें भेद बुद्धि हो रही है भगवान ने जरूर कहा तो बस ये जीवन विनष्ट नाना की बुद्धि उनकी नाना बुद्धि जो है उन्होंने छोड़ दी और चुपचाप मौन हो गए देव की देवी बलदाऊ श्री कृष्ण से अरे मैंने सुना है तुमने अपने मरा गुरु का पुत्र मरा हुआ ला करके दिया है तो मेरे पुत्र जो पंच में मारे हैं मेरी देखना चाहती लाओ उनको हे राम हे कृष्ण आदि पुरुष राम जाने तुम आदि पुरुष तो ये जब तुमने अपने गुरु का पुत्र ला करके उनको समर्पित कर दिया है कथानन कानून कानून के मेरी कामना पूरी कर भगवान को जब ऐसी आज्ञा दी तो बलदाव जी श्री कृष्ण सुतल लोग को गए सुतलन गए संत गले जा रहे थे वहां जा करके गए तो बलि महाराज ने परिवार के सहित भगवान का पूजन किया उनको आसन दिया दोनों के चरण हुए तो चरणों का भोजन अपने कुटुंब के शरीर के ऊपर छिड़का तीन दस रात से भगवान का पूजन किया और फिर गदगद गद से बोले गली बोले हे अनंत हे कृष्ण मैं आपको बारम्बार प्रणाम करता हूं नष्ट और दर्शनम दुर्लभम हमारे लिए तो आपका दर्शन करा देगा वयम अन्य से सत्य स्वरूप नित्यम बदलैया आप अभी बताइए आप कृपा कैसे कृपा की हमारे ऊपर भगवान बोले तो राजन प्रारंभ मनन कर्म मरीजी के द्वारा प्रेरणा में छह तत्व उत्पन्न हुए ये तत्वों ने ब्रह्मा जी के साथ से आश्रम लेने में प्राप्त हुए रेण कष्टो सकाशात जाता है फिर वो देवत्वा ही जाता है फिर कंसे में नाश कंस के द्वारा मारे गए हमारी माता देव जी उनको देख दर्शन करना चाहती है देखना चाहती है तो माता का शोक दूर करने के लिए हम उनको लेने के लिए आए हैं एकान ले श्यामा उनको ले जाएंगे मेरे सात से लोग हो सकते देव लोग को चले जाएंगे वो कौन कौन है स्मर बुद्धि परिश्रम पतंग क्षुद्रवित ध्वनि तुम्हें सत मत प्रसाद मोक्षम का सुना इनको मिला करके माता को समर्पण करते कठोर ढेर की पानी उनको बलि में करना ठीक कठोर ढेर की पानी पुस्तक विश्वास स्मृत नहीं देव जी ने गोस्वामी को लाकर के खड़े कर दिए प्रेम से देव जी ने स्तनम पाया उन छह बच्चों को अपने स्तन चुनाव दूध दिलाया भगवान श्री कृष्ण गीतावश समृत मगन तस्या भरत पूछा नारायणांग स्पर्श में प्राप्त ज्ञान संतर गोविंदम देवकी वसुदेव रामन से नमस्कार इसके अनंतर की वस्तु बलदाव जी को नमस्कार करके संपूर्ण प्राणियों को देखते देखते देव लोग को चले गए बोलिए श्री कृष्ण परीक्षित ने ये कहा भगवान हमारे बाबा जो अर्जुन थे हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा उनको आई गई थी यही क्या था तो सुखदेव जी कहते हैं कि कपाल यह था कि बलदाव जी अपनी बहन का ब्याह गुजरे ढंग से करना चाहिए तो बलदाई की दुर्लभ को कहना जहां पर तो समझ रहा भगवान श्री कृष्ण को सम्मिलित किए अर्जुन गए तीर्थ यात्रा के बहाने घूमते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए और तब राणा सुभद्राम दुर्योधनाय राष्ट्रपति अपने वसुदेवा रहेगा वहां जाकर के सुना अर्जुन ने वसुदेव आदित्य तो सुभद्रा को दुर्योधन को देना नहीं चाहते बलदार भी चाहते तो हम अपना अपनी बहन का जाना दुर्योधन को करेंगे ये सुन करते हो वहन छह और चार महीना वहां हो शांत वज्राम इच्छु अर्जुन संगीत उपदेशन और मुझे इसका अपहरण करके ले जाएंगे सुभद्रा सुभद्रा को तो अपहरण है कि अर्जुन जो है महात्मा बने महात्मा बन के और चक्रमास करने लगे वहां पर अर्जुन त्रिगंधी यज्ञ वैष्णव महात्मा होते हैं तीन दंड बांध करके एक जगह सन्यासी का देश बना करके अर्जुन द्वारका के बाहर एक कुछ में रहते थे राजस्थान नासा निवास चार महीने तक उन्होंने चतुर्माश किया और अब द्वारका के लोग दर्शन करने जाने लगे अर्जुन किसी की पहचान में नहीं आया और ये कहा कि कोई बड़ा तपस्वी तेजस्वी महात्मा आया वही खड़े दर्शन और अर्जुन का दर्शन करने के लिए द्वारका के यदि भारत लोग आने लगे नमस्कार करें उनका पूजन करें अपने अपने घर में ले जाए भिक्षा कराने और सारी द्वारका में अल्लाह ने दिया तो बड़ा एक तपस्वी तेजस्वी महात्मा आया बलदाव जी के कानों में कहीं कि हम महात्मा आया है चलो दर्शन कर के बंगाल जी पहुंच गए बंगाल जी ने प्रणाम किया मत्था देगा हाथ जोड़ करता महाराज कल हमारे घर को गौर कीजिए आपने स्वीकार कर लिया रामीण आदित्य मंत्र ग्रहण ग्रह आने का और स्वयं फिर बंगाल जी उनके लेने को गए और अपने आप उनको मिला करके समझ गए श्रद्धा सर्वेश भविष्य बाबू जी उनके पास बैठे और बड़ी श्रद्धा से उनके भोजन परोस रहे साथ को अर्जुन भेजे अर्जुन तो अपने साथ सिद्धि के लिए देख रहा था वो भोजन करने लगे क्रम से करा रहे थे क्रम से भोजन कर रहे अर्जुन ने वहां तो सुभद्रा को घूमते हुए बहुत ही मनोहरान कन्या वृक्ष उस कन्या को देख करके उसका अपहरण करने का उसने विचार किया तथो अग्निस्थान हस्तम अवसरम की और उसके अपहरण करने का समय देख रहा था किस समय से वहां से हम ले जाओ और एक था देव यात्रायाम रथस्थान काम और सुभद्रा जो है भगवती का दर्शन करने के लिए गई तो वहां कुछ जो है सैनिक लोग उनके साथ में थे उनके भगवती का दर्शन कराने के लिए ले गए और वसुदेव देवत को पूछने से जान बते भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव आदि के इनकी तो अनुमति थी अर्जुन जो रथ लेकर के वहां पहुंचे जब वो सुभद्रा पूजन करके आ रही थी तो जितने रक्षक थे वो तो लेकर के मार मार करके अर्जुन ने को भरा और तत्काल झूठ लाभ रथ में बैठा करके व्यक्त चल गई लेकिन ने आगे गए अरे वो महात्मा था लेकर के चला गया कौन ले गया तो त्रिगंज तो महात्मा के गया बंगाल जी थे क्या बंगाल जी से वो त्रिगंज महात्मा ले गया किसी ने कहा महात्मा नहीं था महाराज तुमको पहचान नहीं था तो अर्जुन था बताइए बड़े प्रयोग हो गई अच्छा तो बंदावली को छोड़ना भाग्य में तो इसको खबर भगवान श्री कृष्ण ने यशोद के चरण पकड़ दिए और कहा भाई दादा मैं तो किसी न किसी को जय तो थी हम कहीं ले गया चलो क्षत्रिय है आओ ले गया ले भगवान ने चरण पकड़ लिया क्यों छोड़ कर पागल अन्न सामने का बदलता हुआ तो फिर उसके लिए उनका तो कुछ देना चाहिए प्रबल करने के लिए बहुत सावधानी संकट आती घोड़े इसे भिजवा दिए बल्ला भगवान का एक सफा मान अलंकर शुक्र मान का ब्राह्मण जनक तुल्य बनता छात्र है परंतु विरक्त था और वहां मिथिला का राजा गुरु भगवान का भक्त था ये इनको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं वहां मिथिला कर कुछ ऋषियों के साथ में ले गए कौन कौन थे नारद रामदेव पत्री बिहार परशुराम और सुखदेव जी कहते हैं हम अशुद्ध कर्ण अग्नि बृहस्पति कर्ण मध्य ऋषियों को साथ में लेकर के वहां पहुंचे हे भगवान तुम भूतानाम आत्मा आप तो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं हाँ, अब आप कुछ दिन में निराश कीजिए ऋषियों के शहर यहाँ रह करके अपनी शरण से हमारे स्कूल को पवित्र कीजिए सुखदेव के यहां गए वो भगवान को प्राप्त भगवान को देखा भगवान मेरे यहाँ खड़ा हुए हैं और इतनी उसको खुशी हुई कि अपना वस्त्र उछाल उछाल के नाचने लगा तो ब्राह्मण जो भगवान के चरणों को भेजा रहा और उसमें क्या था आमर पाल फले खंड मिले आम को फल रख दिए काले को खंड मूल रख दिए सेवा से जल भगवान का पूजन किया रसियों के साथ का मध्यम दर्शन प्राप्त आयु से पुण्य किन्तु यदा सत्यदेवगम शिष्टा तस्मिन का तय प्राप्त सत्यदेव ने कहा आप हमको आप प्राप्त हुए बात हुई तब सृष्टा भले अनुकाल है आपने सृष्टि की रचना करके उसमें आपने जो प्रवेश किया है आपके आपको तो से हमको प्राप्त की तो हृदय स्थित तो हुए आप हृदय में स्थित हैं पर हम आपको ज्ञान नहीं पाते भगवान ने सरस्वती देव का हाथ पकड़ा है सारे ये ब्राह्मण देव ये ऋषि लोग तेरे यहाँ आए उनको देख देखने के बाद ब्राह्मण तो ब्राह्मणों के तो मुझे अपना रूप राशि है ब्राह्मण भी रह सकता है ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणों जन्म हुआ ब्राह्मण का जन्म से श्रेष्ठ पहले से और फिर

भगवान जो है अपने भक्तों के भी भक्त होते तो आदि प्रसन्नार बना जनकपुरी में रहे और सन्मार्ग का उपदेश करके फिर द्वारकापुरी को चले गए और सन्मार्ग क्या हुआ सताम सतत प्रमाण भूताना अप्रामाण्य कारण नाम वेदानाम मार्गम ब्रह्म का उपदेश भगवान अवास उत्कृष्टाम ये भेद भेद का तात्पर्य ब्रह्म के प्रतिपादन में है ऐसा उपदेश करके भगवान गुरु को चले गए संत भगवान संपूर्ण वेद भगवान का प्रतिपादन करते हैं वेदेश कर गई रहमेद वेद्य स्वतः प्रमाण भूताना वेदा नाम ब्रह्म परम विदिष्ट जवान उत्तम शास्त्र वेदानाम ब्रह्म परत्वम अवर्तमान मनमाना प्रक्षित और राजा कहता है कि वेद जो है ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे करते हैं ब्रह्म जो तो निर्गुण है और वेद का शब्द ही तो है और शब्द तो किसी वस्तु के सगुण वस्तु का प्रतिपादन कर सकता है निर्गुण का कैसे करेगा तो इस शंका को लेकर के परीक्षित बोले परीक्षित हो जाते हैं ब्रह्म ब्रह्मेण निर्देश निर्गुणे गुणवृत्तय कथम चरण से श्रुतय साक्षात सदसतरे हे ब्रह्म निर्देश देवी ब्रह्म को अनिर्देश किसी अंगुलिया निर्देश नहीं कर सकते हिजन हिजन भया निर्देश तुम असत्य निर्गुणे उसमें तो कोई गुण नहीं रहता है और श्रुतियां जो है वेद जो है वो तो सभी वस्तुओं का ही उत्पादन करता है दिन विषय आएगा निश्चय गुणियो भगवान गुण वेद तो तीनों गुणों का ही उत्पादन करता है तो प्रथम चरण तो शुक्रिया फिर श्रुतियां उस निर्गुण तत्व का जो कार्य कारण के परे हैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा है तो उनका कैसे उत्पादन करता है ये प्रश्न किया शुद्ध जी बोले बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनाना मत प्रभु मात्रा संख्य भाव संचय आत्मनिर्कल्पना है अरे भगवान ने बुद्धि इंद्री प्राण उनको बनाया चतुर्वृत्त पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए 我们谁看见？我们都有病。